मन का सहयोग होता है और मन अकेला कभी सहयोग तो करता ही नहीं स्व संस्कार जन्य स्वाप्र पदार्थ हो मनोराज्य पदार्थ हो या बाह्य घटपटादि विषय चक्षुराजियों की तरफ प्राप्त विषय हो उनको लेकर के ही मन हमेशा आत्मा के संबंध करता है इसलिए न्यायकारियों के मत में सविषय का ही ज्ञान होता है ये ही नहीं है विषय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है उनकी ये मत को बहुत भी कहने लगा इसलिए नया भावे ज्ञानाभाव कल्पित सेवा यदि छेद पहले आप कैसे कल्पना करोगे बताओ ज्ञाना भाव की आपने कल्पना किया कौन किया जो किया वो हया नहीं बताओ ये न होने से ज्ञान नहीं है आप कह रहे हो कौन कह रहा है ज्ञान नहीं जो कह रहा है वो भी नहीं है क्या जो कह रहा है वो है ना भाव है ये कह रहे कि अभाव का तो ज्ञान हुआ नहीं हुआ न्यारा भाव का ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं वो ज्ञान क्या है वो तो है ना तो फिर आगे ज्ञान का विचार कहा हुआ फिर फिर तो ज्ञान का विचार आप सिद्ध नहीं कर सकते वही कहते ये न तद अभाव कर स्वादार के न कल्पित ये ना जिससे ज्ञानाभाव की भी आप कल्पना कर रहे हो तस्या के बाबा उस भी अभाव को किससे कल्पना करोगे अवस्था दोष हो जाए अतएव ज्ञानाभाव का भी जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान अव्यभिचारी माननी पड़ेगी अगर ज्ञान सामान्य को हम अव्यभिचारी कहेंगे और जो ज्ञानाभाव का जो ज्ञान हो रहा है वहां ज्ञान आप क्या लेंगे आप परिचन्न ज्ञान केवल भाव का ज्ञान जो हो रहा है आपको वह ज्ञान अपरिचन्न ज्ञान स्वरूप ही होगा घटज्ञाना भाव को आप ले रहे हो ना ज्ञान भाव शब्द से पटज्ञाना भाव को ले रहे हो क्योंकि ज्ञा भाव से ज्ञान भाव करने का तात्पर्य है घट है तो घट ज्ञान है घट नहीं है तो घट ज्ञान नहीं है अगर घट ज्ञान पट ज्ञान घट ज्ञान होगा भाव का आपको ज्ञान हो रहा है तो विशिष्ट ज्ञान समुदाय के अभाव का जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान सामान्य स्वरूप होगा ही उसका भी विचार आप कैसे सिद्ध करोगे उसका भी अभाव किससे कहना चाहे तो वो कौन करेगा उसकी कल्पना और कल्पक का व्यवहार उसे नहीं कर सकते ना जिस जिससे भी हम कल्पना करते जाते हैं पूर्व पूर्व जो कल्पक है उत्तर उत्तर कल्पनाओं के प्रति वह पूर्व पूर्व कल्पक उत्तर कल्पना के प्रति कल्पक भले बन जाएगा उस कल्पना का भी कोई और कल्पक तो होगा इस प्रकार से अनवस्था दोष को यदि प्राप्त कर जाओगे पूर्व पूर्व कल्पक उत्तर उत्तर कल्पक के दृष्टिकोण से नित्य मानते जाए तो कोई भी कल्पक नित्य नहीं होगा साबित हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी कल्पकों को भी अभाव रूप अनित्य रूप विनाश रूप मानने वाला भी कोई कल्पक होगा वो कल्पक को तो नित्य मानना पड़ेगा इसलिए कहते हैं कि देखो केन कल्पित वक्तव्य वैनाश के ना वैनाश की तरह यह बात जरूर कहना ही होगा जिसके द्वारा आप इन ज्ञान के अभाव की भी कल्पना करोगे वह उसकी भी कल्पना कौन करेगा किस प्रकार से होगा बताओ कहते वो जरूरत नहीं है उसका भी उसका भी उसका भी जाने की क्यों ये अज्ञात और अभिन्न हमारे मत में कर देता तो है ज्ञान ही ज्ञ आकार को प्राप्त हुआ इसलिए ज्ञ अभाव के तो ज्ञान अभाव क्या कौन बात ही ज्ञान ही ये बन गया है ना क्षण विज्ञानवादियों के मत में जब ज्ञान ही यही रूप था ये खत्म हो गया तो ज्ञान भी खत्म हो गया अतएव ज्ञान भाव से मैं ज्ञान भाव की कल्पना जब कहता हूं अभी दृष्टिया में कथन कर रहा हूँ जो ज्ञान और के द्वारा भिन्न है इसलिए अभाव का भी कोई और की अपेक्षा नहीं हो सकती तद अभाव से अभिज्ञता ज्ञानाभावित अनुपत्य है कभी ज्ञ के अभाव में ज्ञान के अभाव की कल्पना श्री विद्या जो करता ही है तद अभाव से अभिज्ञता अब इसकी सिद्धांत जवाब देता है तद अभाव से अभी जो ज्ञानाभाव है वो भी क्या है कोटि में ही है वह अज्ञान अभाव का भी मुझे जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान के अभाव का उपपत्ति नहीं हो सकता तद अभाव ज्ञानाभावित तद अनुपत्य है यदि ज्ञान अभाव का भी ज्ञान नहीं होता फिर ज्ञान अभाव है ये भी आप नहीं कह सकते ज्ञानाभाव का आपको ज्ञान हुआ है अतएव आप है ज्ञान अभाव है यदि ज्ञान अभाव का ज्ञान ही ना हो फिर ग्यारह ये युग कैसे कहोगे इसलिए कहते हैं तद अभाव से अभी ज्ञता बने ग्यारह भाव से अभी ज्ञता ग्यारह भाव भी बौद्ध के मत में ज्ञ है, हाँ? अब ग्यारह भाव इसलिए अवश्य उसको ज्ञ मानना पड़ेगा ग्यारह भाव को भी ज्ञ मानना ही पड़ेगा उसको घटाने के लिए लगा रहे पूर्व से संबंध कर रहे हैं ना ज्ञा भाव से अभी अज्ञात यदि ज्ञा भाव आपको अज्ञात हो फिर आप ज्ञान अभाव को सिद्ध नहीं कर सकते भाव कल्पगत ज्ञान ज्ञानाभाव की कल्पगत ही असंभव होगा इसलिए अवश्यम के तत् है तद अनुपत्ति है इसीलिए वह भाव भी अवश्य के होने के नाते तद अनुपत्ति है अनुपत्य है इसे ज्ञान अभाव की कल्पना ज्ञान अनंगीकार पक्ष लयुक्त इत्यर्थ इसे ज्ञान का अनंगीकार पक्ष बिल्कुल युक्त नहीं हो सकता ज्ञान अभाव का विज्ञान को अंगीकार करना ही पड़ेगा नहीं है कोई इच्छा नहीं है अभाव से था अभाव भी अभाव होने में सिद्ध नहीं कर सकता तीन नाम से लोग नाम रखे जो संख्या तीन जो अभाव है और तीन अभाव से तो प्रकृति में ज्ञान पूर्वक नाशानुभूत गया वो तो सिद्धांत है तो नाश होने में ऐसी वस्तु होते हैं तो क्या भाषकर सुन कर रहे हैं कहते हैं आप ये और उसमें भी नहीं

भले ही ज्ञी है फिर भी वह ज्ञान व्यतिरिक्त है फिर भी वो ज्ञान से भिन्न है तब तो इतिचेत न हम बाद में लेंगे उसी इतिचेत की व्याख्या पहले कर दे रहे हैं तभी बात कह रहा है ज्ञा और ज्ञान अभाव फिर तो ज्ञ के अभाव होने पर ज्ञान का भाव तो सिद्ध हो ही गया ज्ञान अतिरिक्तम न तो ज्ञान ज्ञ व्यतिरिक्तम इतिचेत लॉ अब वास्तव में लाएंगे उसी लॉ को यदि अल्लाह कर ये ना उसे पूर्व पक्ष की व्याख्या पहले कर दिया फिर अब न मुख्य सिद्धांत आएगा तो उसको पूर्व पक्ष कहना है ये हम ज्ञान व्यतिरिक्त ये जो इसलिए क्या है ज्ञान से भिन्न है न तो ज्ञान ये व्यतिरिक्तम किंतु ज्ञान ये से भिन्न नहीं है पहला पक्ष क्या है ये से अभाव लेना अभाव रूपा जो ज्ञ है वो ज्ञान से भिन्न है किंतु तो ज्ञान जो है वह घटपट आदि घी से भिन्न नहीं है ऐसा जो कह देना चेत न ये शब्दों की जाला मत बिछाओ ज्ञातावचन ज्ञेत सगल की ग्रहण हो जाता है ये कुछ गेय को आप कहोगे ज्ञान से भिन्न है और कुछ गेय को कहो ज्ञान से अभिन्न है ये तो बन नहीं सकता नियम एक बताओ सीधी सीधी बात हम पूछेंगे ये ज्ञान सिद्ध नहीं आ नहीं एक ही प्रश्न अब हाँ, ये खिचड़ी कैसे तुम कर रहे हो भाई कुछ गेम को अलग कर दिया कुछ गेम को अलग कर दिया उसको ज्ञान से भिन्न कर दिया इसको ज्ञान से अभिन्न कर दिया ऐसे तो नहीं हो सकता हमारा प्रश्न है भाई ये ज्ञान से भिन्न नहीं या नहीं आप हाँ या ना बोलो ऐसा नो टिक मार करो ये उल्टा पुल्टा से विभेदन नहीं कर सकते आप अब ज्ञान से कहीं भिन्न है और फंसे क्या से किया अभिनय कहो तो फंसा वो ढोल कर से मारा गया क्यों एक क्या है ज्ञान से यही भिन्न निकालेगा अभाव जैसा भिन्नता नित्य है जैसे घटपटा भी नित्य हो जाएगा भिन्न होने के कारण यदि अभिन्न कह दोगे फिर ये समस्या होगा जैसे घट से अभिन्न ज्ञान अनित्य होने कारण से घट को भी अनित्य होने से ज्ञान को अनित्य कहा आपने उसे हम कहेंगे इसलिए क्या अनित्य हो गया घटा भी नौकर उसी लिए उसी प्रकार से अभाव भी क्यों अनित्य हो जाएगा सिद्धांत कहना पड़ेगा यदि घट आयु की ज्ञान से अभिन्न है अतिव ज्ञान विचार यह कह दोगे फिर अभाव भी अनित्य हो जाएगा उनके मत में वो भी ज्ञ है वो भी ज्ञान से अभिन्न होगा वो भी विचारी हो जाएगा उस भय से जो कहता है नहीं भाई अभाव रूपा ज्ञान से वितरित है देवा घटो ज्ञान व्यतिरिक्त ये विचार है अभी ज्ञान व्यविचारो नावश्यकी ये सिद्ध हो जाएगा ना उपदस्ता रज्जु में फंस रहा है इसलिए कहते हैं शब्द मात्र विशेष अनुभवत्य है ये जो आपने बोला है क्या गेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम तो ज्ञान गेय व्यतिरिक्तम ये जो आपकी शब्द जो है प्रयोग है ये शब्द मात्र ही है वास्तविक अर्थवेचन करके देखते हैं इससे कोई विशेष अंतर अनुभव में नहीं आ सकता विशेष अनुभव करते हैं न्यायो हो एक छेद अभिगमित है समर्पण होता है उसको समझा रहे क्यों विशेष नहीं है कि ये और ज्ञान इन दोनों के दोनों को एकत्र स्वीकार करते हो ज्ञम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञान ज्ञ व्यतिरिक्तम न इजितु शब्द मात्र में था फिर तो ज्ञान से व्यतिरिक्त नहीं है और ज्ञान की विद्युत नहीं है ये जो चाल है आपका शब्द मात्र अवश्य ही होगा क्योंकि एक तक उसी प्रकार की कहानी है जैसे कोई कह दे वन्नी अग्नि रूप नहीं है वन्नी अग्नि रूप नहीं है लेकिन अग्नि वन्नी से भिन्न भी नहीं है ये कैसा हो गया वही आज एक तरह से पहले हमने प्रतिज्ञा कर दिया वन्नी अग्नि अभिन्न वस्तु है वन्नी और अग्नि अभिन्न वस्तु है पहले प्रतिज्ञा करके बाद क्या बोला आपने वन्नी अग्नि से भिन्न है किंतु अग्नि वन्नी से भिन्न नहीं है ये झूठी चाल है ना शब्द की इसलिए यहां पर भी आपने क्या कि ज्ञान से अव्यतिरिक्त कह दिया फिर बाद ज्ञान व्यतिरिक्तम किंतु ज्ञानम के व्यतिरिक्तम ना ये उसी प्रकार का हुआ शब्दों का हेरा फेरी हुआ जब ये और ज्ञान दोनों अभिन्न है अभिन्न है का मतलब क्या अक्षर में फर्क ज ए मात्रा य आ मात्रा न अक्षरों में तो फर्क है ना जब दो अभिन्न वस्तु है तो वहां पर नाम मात्र का भेद हो गया जैसे आप कह दो घट और कलश दोनों अभिन्न है इस मतलब क्या हुआ घट शब्द और कलश शब्द में केवल अक्षर विन्यास में भेद हो सकता है वस्तु में कोई तात्विक भेद नहीं है उसी प्रकार ज्ञेय और ज्ञान दोनों अभिन्न जब आपने कह दिया तो अक्षर विन्यास मात्र में भेदवा शब्द स्वरूप मात्र में भेदवा वस्तु में तात्विक भेद नहीं माना जा सकता है ऐसे तरह प्रतिज्ञा करने के बाद इस तरह से कहोगे तो निश्चित रूप से उचित नहीं बनता है वन्नी अग्नि व्यतिरिक्त अग्निस्तु न प्रकार ऐसा कोई स्वीकार करे उसी प्रकार की आपका कथन हुआ ये अतिरिक्त हेतु और इसी कथन इसी डर के मारे यदि कहोगे घी से भिन्न ज्ञान है फिर तो ज्ञान ज्ञान भवन पत्ति था हाँ। इसे स्वतः हो गया जब भिन्न वस्तु है ये ना भी रहे तो भी ज्ञान तो बना ही रहेगा क्या दिक्कत थी ये से व्यतिरिक्त ज्ञान को आपने स्वीकार कर लिया है फिर तो ये का न रहने पर भी ज्ञान का रहने में कोई आपत्ति नहीं दोष है क्या कोई दोष नहीं इसलिए कहें अभाव अनुपत्ति ज्ञान के अभाव को आप सिद्ध नहीं कर सकते किंतु ज्ञान का अस्तित्व ही सिद्ध हो जाता है अतिविज्ञान अव्यविचारी है यह बात भाव दर्शनाथ भाव ज्ञान से चेन्ना कहते हैं कि भाई शिशुत्व में ज्ञान का दर्शन हम इस आधार पर ले लेंगे ये का अभाव होने के कारण से वहां पर जीने की प्रतीति नहीं हुई अतएव ज्ञान का भाव मान यदि ज्ञान का प्रतीति हो जाए तो ज्ञान ने ज्ञान को प्रकाशन कर दिया है अतएव ज्ञान है करके सिद्ध हो जाता है यदि ज्ञान की प्रतीति ही न हो वह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा ज्ञान न होने के कारण से वह ज्ञान ने ज्ञान को प्रकाशन नहीं किया अतः ज्ञान का अभाव है उस आधार पर ज्ञा भाव दर्शनार्थ यहाँ एक अधिक बात छोड़ दिया पहले अभी तक बोल रहे थे ज्ञा भाव भाव बीच में अधिक जोड़ रहे हैं ज्ञा भाव अदर्शनाद अभाव ज्ञान से अदर्शात मैंने प्रतीत्य भाव ज्ञ का अभाव होने से प्रतीति का भी अभाव हो गया प्रतीति का अभाव होने के कारण ज्ञान के अभाव मानना पड़ेगा उसकी व्याख्या करेंगे कि चिन्ह पहले सिद्धांत जवाब संक्षेप कर दे रहे सुषुप्त जप्ति अभिगमा सिद्धांत जवाब दे दिया कि नहीं सुषुप्ति में जो है जप्ति को वैनाशिक लोग भी स्वीकार करते हैं वह ज्ञान की धारा है लेकिन प्रवृत्ति विज्ञान नहीं है कि ज्ञान का अभाव होने से प्रतीति का अभाव जो है वो बात प्रवृत्ति विज्ञान की है आलय विज्ञान का नहीं क्षण विज्ञान में भी दो प्रकार का मानते हैं बौद्ध लोग एक आलय विज्ञान दूसरा प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान केवल अहम आकारी का वृत्ति अहम अहम अहम अहम अहम करके वृत्ति चल रहा है जिसको हम लोगों की भाषा में वेदांत की भाषा में वृत्ति कही जाती है उसको लोग कहते हैं आलय क्षणिक विज्ञान धारा है आलय विज्ञान धारा का वह एक तरह से बेस है फाउंडेशन जैसे नदी में ऊपर लहर होता है तो नीचे भी तो प्रवाह है ना कि ये ऊपर ही वही है नीचे जो प्रवाह उसमें कोई लहर है क्या नीचे जो स्थिर सीधा प्रवाह होता है चल ऊपर ऊपर में लहर होता है तो नीचे की धारा को आर्य विज्ञान धारा कहते हैं और ऊपर जो घटाकार पटाकार मटाकार जो वृत्तियां हो जाती हैं इनको प्रवृत्ति विज्ञान धारा कहते हैं सुशुद्ध में ये घटाकार पटाकार मटाकार आदि वृत्तियों के अभाव के कारण से तारस्य विज्ञान न होने के कारण कहते हैं न्याय भाव अतः प्रदीदी नहीं है अर्थात प्रवृत्ति विज्ञान नहीं किंतु आलय विज्ञान तो है ही इसलिए ज्ञान के अत्यंत अभाव सिद्ध नहीं कर सकते है सुषुप्ति में कौन बौद्ध भी ये संक्षेप में सिद्धांत जवाब देता है कि वैनाशिक लोग भी सुषुप्त विज्ञप्ति आल विज्ञान नाम से स्वीकार करने के कारण ज्ञान का अत्यंत अभाव सुषुप्ति में भी सिद्ध नहीं हो सकता वैनाशिक अभिगम्यते ही सुषुप्त विज्ञान अस्तित्व व्याख्या उसी की वैनाशिक उनके द्वारा भी अभिगम्यते ही निश्चित रूप से बात स्वीकार किया गया है कि सुषुप्ति में भी ज्ञान रहता है क्यों तत्रादितम अभिगम्यत ज्ञान से स्वेन चिन्ह तब मध्यस्थ बौद्ध का बीच में खड़ा होकर बोलेगा नहीं जी वह हम मान रहे हैं लेकिन वो ज्ञान भी यही है आले विज्ञान को जो मान रहे हैं वह ज्ञान क्या है ये कोटि में होने से उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है वह कहते लेकिन किससे ज्ञान हो रहा है स्वे नहीं हो जीयत दे तथापि वहां सुषुप्ति में जो ज्ञान है आल विज्ञान धारा उसको भी हम यही मानते हैं यही मानने मानने से आपको फिर कहना पड़े भाई दूसरा कोई ज्ञान उसको प्रकाशन किया कहते नहीं दूसरा ज्ञान नहीं करता फिर दूसरा क्या मान करते हो वो ज्ञान भी ज्ञान है यानी सुशक्ति में जो दूसरा है वो भी यही कहोगे फिर उसको कौन प्रकाशन करेगा कोई तीसरा ज्ञान तो अनवस्था दोष हो जाएगा उससे बचने के लिए क्या कहता है ज्ञान से स्वे नहीं वह उस ज्ञान को स्वयं ही वह ज्ञान क्या कर लेता अपने आप को प्रकाशित कर देता है इसे दूसरे प्रकाश की अपेक्षा न होने से अनवस्था दोष से तो आप बच जाएंगे चिन्ह कदया ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान स्वयं ज्ञी भी हो और स्वयं को प्रकाशन भी कर डाले कर्त कर्म विरोध है और यह विरोध को देखते हुए स्वतः सिद्ध सर्वत्र क्या है ज्ञान ज्ञी का भेद भेद से सिद्धत्व संसार में दो ही कोटि है एक ज्ञ कोटि एक ज्ञान कोटि ज्ञान और ज्ञी के बिना और तीसरा कोई वस्तु ही नहीं है और जीवी व्यावहारिक सत्यता को लेकर के है और न आकार ज्ञान भी व्यावहारिक सत्यता को लेकर के है लेकिन जो दूसरा जो न्यय और ज्ञ आकार रूप वृत्ति ज्ञान से भिन्न शुद्ध ज्ञान है वही पारमार्थिक है वही सत्य है और उस पारमार्थिक सत्य ज्ञान से भिन्न यह व्यावहारिक मिथ्या ज्ञेय और तदाकार ज्ञान अलग है यह बात सिद्ध हम पहले भी कर चुके हैं कई बार कई रूप से इसलिए कहते भेद से सिद्ध कैसे सिद्ध है सिद्धम ही अभाव विज्ञेय विषय ज्ञान से अभाव ज्ञेय व्यतिरेक ज्ञान और अन्य कहते अभाव है विज्ञेय विज्ञात्मक विषय जिसका अभाव है विज्ञेयात्मक विषय जिसका ऐसा जो ज्ञान से अर्थात निया भाव का जो ज्ञान सुषुप्ति में न्याय नहीं था ऐसा आपको क्या हुआ है ज्ञान हो रखा है ये भी तो ज्ञान है ना अभाविषिक ज्ञान है इसलिए अभावात्मक विज्ञेय रूपा जो विषय तारस विषय है जिसका ऐसा जो ज्ञान उस ज्ञान को अभावात्मक से भिन्न है अभावत्मक जो अभावत्मक ज्ञी है उसे भिन्न है नहीं जैसे घट का ज्ञान यदि आपको होता है वह घट का ज्ञान घट से भिन्न या नहीं उसी प्रकार से अभाव का यदि ज्ञान हुआ आपको तो वह ज्ञान उस अभाव रूपा विषय से भिन्न होगा ही कि नहीं है निश्चित रूप से है इसलिए कहते अभावात्मक भी ये रूपा विषय है जिस ज्ञान का तारस ज्ञान का भी उस अभाव रूपा विषय से ज्ञ से भिन्न मानना होगा क्योंकि ज्ञेय और ज्ञान ये दोनों अत्यंत भिन्न होते हैं ज्ञान तो प्रकाशक है और ज्ञेय प्रकाश है प्रकाश्य प्रकाशक भाव कर्तिक्रम भाव के समान अत्यंत विरुद्ध होने से अत्यंत भिन्न है नहीं तत्सिद्धम मृतम जीव ही तुम पुनर् अन्यथा कर तुम शक्ति थे वैराश भी कोई मरे हुए को पुनः जिंदा करने की चेष्टा सैकड़ों वैराशी इकट्ठा होकर करने की चेष्टा करें तो भी वे नहीं कर सकते उसी प्रकार जो पहले से सिद्ध है भेद उस भेद को हम मार करके अभेद रूपेण ज्ञान और ज्ञान का अभेद सिद्ध करने की चेष्टा करो यह कदापि संभव नहीं है नहीं तत्सिद्धम वो जो सिद्ध वस्तु है उसको मृतम युवा उसको मरे हुए के उज्जीवन पुनर्जन्म देने के समान आप चेष्टा मत करो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता वैनाशिक सदैव भी अन्यथा कर तुम नहीं सक्य न्यास तदपि अन्य तदपि अन्य तत्पक्ष अति प्रसंगित चिन्ह और यदि वो कहता है कि भाई देखो यदि ज्ञान में ज्ञत किसी अन्य ज्ञान का मानेंगे तो एक ज्ञान है उसको ज्ञेय मान लो और वह ज्ञेय ज्ञ का प्रकाशन करा वाला दूसरा ज्ञान और वह ज्ञान भी यही होगा और उसको प्रकाशन करेगा तीसरा ऐसे मानेंगे तो तत्पक्षे तो पे अति प्रसंग कथा वेदांत के लिए भी तो मुसीबत खड़ा होगा क्योंकि ज्ञान को ज्ञ यदि मान लेते हैं तो वेदांत मत में भी मुसीबत आएगा वेदांति तो मान नहीं रहा है ज्ञान को ज्ञ लेकिन वो कह रहा है अपने तरफ से बहुत पूर्व पक्षी कहता है यदि ज्ञान में ये तो किसी अन्य ज्ञान का मानेंगे तो दूसरा ज्ञान की भी किसी अन्य ज्ञान के प्रति ज्ञ होने लगेगा तदापि अन्य ना तदापि अन्य ना इति इस प्रकार से क्या होगा तत्पक्ष अनावस्था दोष जैसा आपने हमारे ऊपर दिया है वैसे आपके ऊपर भी आएगा यदि चिन्ह कद हम तो ज्ञान के एक मानते ही नहीं हमारे यहाँ पे मत आएगा नहीं जो ज्ञान और ज्ञ में भेद मानते उनके पक्ष से हम कह रहे हम नहीं मान रहे ज्ञान और ज्ञ में पारमार्थिक भेद हम ही नहीं मानते फिर क्या पारमार्थिक अभेद मानते हो नहीं पारमार्थिक अभेद नहीं मानते हम ये मान रहे हैं ज्ञान भिन्न है ऐसा जो हम वेदांति कहते हैं उसको समझिए थोड़ा भिन्न का तात्पर्य नहीं कि दोनों ही पारमार्थिक दोनों ही सत्य है ये हम नहीं कह रहे दोनों में सत्य भेद का व्यवहार नहीं करो और भेद को मैं सत्य नहीं मानता भेद भी व्यावहारिक है ये भी व्यावहारिक सत्यता को प्राप्त किया हुआ है और पारमार्थिक वाल तो एक ही है और ज्ञान है इसे ज्ञान और ज्ञ को भेद कह करके हम ये नहीं बात कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में दोनों ही पारमार्थिक है अतः दोनों ही अभिन्न भी है ये हम कहना नहीं चाहते जो लोग मान रहे उनके हिसाब से जवाब दिया गया इसे कहते हैं विभाग उपत्ते सर्वस्या सबसे पहले कहते ज्ञान और ज्ञ का जो विभाग है सर्वस्व उपत्य है सभी के अंदर स्वीकृत है उसका अनुमोदन कर रहे हैं जो लोग कहते हैं ज्ञान और ज्ञ भिन्न है वो बिल्कुल सही है उसको मना नहीं कर रहे लेकिन वहां अंतर इतना ही करूंगा दोनों पारमार्थिक नहीं है बस इतना ही फर्क करना है वेदांत पक्ष का अपना मत है भिन्न है इतने बात में वेदांत भी स्वीकार कर रहा है लेकिन पारमार्थिक भेद है या नहीं अलग बात वो भेद पारमार्थिक कहीं असत्य है हाँ, मिथ्या है ये गलत चीज इसे थे तो यदा ही सर्वज्ञ कस तदा तद व्यतिरिक्त ज्ञानम ज्ञानमेव द्वितीय विभाग जब मान लो किसी व्यक्ति को सब कुछ की हो गया सारा जगत को आपने जान लिया पूरे ब्रह्मांड आपके ज्ञान का विषय हो रहा है उस समय इस समस्त ब्रह्मांड रूपी ज्ञ से भिन्न उस ज्ञ का आपको जो ज्ञान हो रखा है वह ज्ञान उस ज्ञ से भिन्न द्वितीय कोटि रूपये अनुभव होता है कि नहीं होता है आप ये जान रहे हैं कि ये सब मेरा है ये मेरे ज्ञान का विषय है लेकिन मैं ये सब नहीं हूं नए सब ज्ञान रूप ही है ये भी आप जान रहे हैं इसलिए कहते हैं कसिचित मान किसी व्यक्ति को सर्वज्ञम यदा सब कुछ ज्ञ हो गया तदा तब वह उस ज्ञ से वितरित ज्ञान को अनुभव करेगा और वह ज्ञान को ज्ञान रूप ही अनुभव करेगा वह ज्ञान भी ज्ञ है ऐसा अनुभव नहीं करेगा ज्ञानम ज्ञानम एवं ज्ञानम ज्ञ में वैसे करके अनुभव नहीं करता ये सारा जगत का मुझे ज्ञान हुआ ये ज्ञान भी यही है ऐसा कभी नहीं अनुभव करता सबको ज्ञ करके ग्रहण कर रहा है इन ज्ञों का ज्ञान को ज्ञ रूप में कोई ग्रहण नहीं होता किंतु उस ज्ञान को ज्ञान रूप में ही ग्रहण करता है अतएव वह दूसरी कोटि वस्तु है ये मानना होगा इसलिए द्वितीय विभाग एवं अभिगम्य थे अवैनाशिक न तृतीय इसलिए अवैनाशिक लोग जो हैं वो तीसरा कोटि को आज तक बनाया नहीं है दो ही कोटि है एक ज्ञ कोटि एक ज्ञान कोटि और ज्ञान कोटि को कभी ज्ञ कोटि में अंतर्भाव नहीं करते हैं न तो ज्ञ कोटि को ज्ञान में अंतर्भाव करके एक ही बोध करते हैं दोनों उभय तरह नहीं है तद विषय है अनवत्ता अनुपत्ति है इसलिए कोई तीसरा कोटि नहीं है जिसका विषय ज्ञान हो जाए यदि ज्ञ एक दूसरा ज्ञान एक तीसरा कोई चीज होता तब आप कह सकते थे इस ज्ञान का विषय यह ज्ञ हो रखा है है ना जैसे द्वितीय कोटि वाला ज्ञान का विषय प्रथम कोटि वाला ज्ञ हो रखा है उसी प्रकार तृतीय कोटि कोई एक सौ पैंसठ जो भी है उसका विषय ज्ञान हो जाएगा होता ना यदि तृतीय कोटि को मानते ऐसा तृतीय कोटि कोई स्वीकार किया ही नहीं जिसका विषय ज्ञान हो सके अतएव ज्ञान कभी ये हो नहीं सकता इसको करें यदि इसलिए हमारे मत में कोई अनवस्था दोष नहीं आ सकता दूसरी बात उसने कहा था और सुजुक्ति में जो ज्ञान है वो इसलिए की है क्योंकि स्वयं के द्वारा वो जान इसलिए नहीं वह वो बात तो नहीं बनता कभी ज्ञान से स्वेरे व अविज्ञत्व है सर्वज्ञत्व निरपेक्षित पक्षी कहता है यदि ज्ञान को आप स्व के द्वारा ज्ञ कोटि में नहीं डालोगे स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं ज्ञान प्रकाशक है और स्वयं को प्रकाशित प्रकाशी भी ज्ञान ही है अतएव वह प्रकाशी होता जो ज्ञान है वो ज्ञ हो जाएगा अतएव ज्ञान स्वयं ज्ञ भी है स्वयं ज्ञान भी है दोनों अतएव भिन्न हो जाएगा ऐसा यदि कोई कहता है बौद्ध इति चेत सोपि दोष तस्व अरे यह दोष भी उसी व्यक्ति के लिए हो सकता है जो ये मान के चल रहा है इन्नत निर्वाण अस्माकम इसलिए उस दोष का निर्वाण निर्वाण करने के लिए हमारा प्रयत्न करने क्या जरूरत है जो व्यक्ति ज्ञान को ज्ञ मान रहा है उसके पक्ष में दोष आएगा उसके पक्ष में स्वयं के द्वारा ज्ञान को ज्ञ मानने से वह सर्वज्ञ हो जाएगा और यदि ऐसा नहीं मानेगा सर्वत्व नहीं आएगी ये सारी बातें जो है उनके लिए जो ज्ञान को कोटि में मान रहे हैं हमारे मत में नहीं इसलिए हम उस दोष को दूर करने का प्रयास क्यों करें हम नहीं करेंगे अनवस्था दोषा ज्ञान से गृहत्व अभिवाद अवश्य वैनाशिका नाम ज्ञान ये जो दोष है सर्वज्ञत्व हानि अथवा अनवत ये दोनों ही दोष उन लोगों के लिए होता है जो ज्ञान को ज्ञ करके स्वीकार करते हैं ज्ञान को ज्ञ करके स्वीकार करने वालों के मत में ही वो दोष होगा और ऐसा कौन स्वीकार करता है अवश्य विनाशिका ज्ञान वैनाशिक उनके मत में ही ज्ञान गेन हो जाता है इसलिए उनके ही ऊपर यह अवस्था दोष भी होगा उनके ही ऊपर सर्वज्ञ हानि दोष होगा लेकिन हमारे ऊपर नहीं हो सकता जब ज्ञान ही हो जाएगा उसको जानने वाला रहेगा ही कौन जानने वाला कहीं जो भी जानने वाला है वो भी ज्ञान है वो ज्ञान है तो ज्ञ हो जाएगा जब ज्ञ हो जाए तो सर्वज्ञ कौन होगा कोई मिलेगा ही अतः सर्वज्ञ हानि दोष चार अवस्था दोष ये दोनों उनके लिए है जो ज्ञान को ज्ञ मानते हैं और ऐसा मानने वाला कौन है वह नाशिक ही है और अन्य कोई नहीं तो कहता है स्वात्मना च विज्ञेत्व अनवस्था अनिवार्य स्वयं से स्वयं का बोध यदि नहीं होता फिर दूसरे से ज्ञान का प्रकाशन वह मानना पड़ेगा तो क्या होगा ज्ञान को गिर कोटे हमने नहीं डाला ठीक है कोई बात नहीं गिरी से भिन्न ज्ञान है हम मान ली इस ज्ञान का प्रकाशन कौन करेगा आपने कहा स्वयं नहीं करता क्योंकि आपने दोष दिया स्वयं करने लग जाएगा तो भी की कोटि में चला जाएगा फिर सर्वज्ञत्व तो हानि होगी अनवस्था दोष होगा दुनिया भर समस्या लेकिन उस ज्ञान को यदि स्वयं प्रकाशन नहीं करता दूसरे से प्रकाशन मानना पड़ेगा ना तब अनावस्था दोष आप कहा बचे वेदांति को कह रहा है भेद पक्ष में भी ज्ञान यही नहीं होता यही से भिन्न ही ज्ञान होता है उस मत में भी अनावस्था दोष तो रहेगा क्योंकि उस मत में भी ज्ञान को आप जो स्वयं प्रकाश नहीं मान रहे हो फिर तो दूसरे से प्रकाश मानना पड़ेगा जब दूसरे से प्रकाश मानेंगे तो दूसरा ज्ञान इसको प्रकाशन किया उस ज्ञान को कौन प्रकाशन करेगा तीसरा ज्ञान उसे प्रकाशन करेगा तो अनवस्था उसे बचेगा तो अरे वेदांत को समझाए ना वेदांत कहता है ज्ञान प्रकाश है ही नहीं न स्वयं से प्रकाश है न दूसरे से प्रकाश है क्योंकि सब प्रकाश स्वरूप है वास्तविक वेदांत क्या है ज्ञान प्रकाश स्वरूप ही है वो प्रकाश ही नहीं है यदि प्रकाश मानोगे तब में मामला उठेगा कि स्वयं से प्रकाशित हो रहा है या दूसरे से प्रकाशित हो रहा है ये तब विचार होता है जब ज्ञान को प्रकाश की कोटि में रखोगे तो इसलिए यह दोष भी वेदांत पर आ नहीं सकता उन लोगों के मत में जाएगा जो ज्ञान को प्रकाश मानते हैं ज्ञान को प्रकाश स्वरूप मानने वालों के लिए उसका प्रकाश करने की अपेक्षा ही नहीं इसलिए कहते हैं समान वयम दोषित चिन्ह इसलिए अनवस्था दोष तो स्व स्वे प्रकाश मान लो चाहे परेण प्रकाश मानो उभय मत में तो दोष तो बराबर ही है चाहे हम बहुत स्वेन प्रकाश मान रहे हैं चाहे आप वेदांति यदि परेण प्रकाश मानोगे तो भी दोष तो बराबर रहा जहाँ समान दोष होता है परिहार भी समान माननी पड़ती है ऐसा दोष को दोष ही इसलिए नहीं माना गया शास्त्रार्थ पूर्व पक्षी का विजय हो जाता है तीसरे कहते हैं समान अयम दोष यदि चेन्न ऐसा आप नहीं कर सकते क्यों ज्ञान से एक है क्योंकि ज्ञान एक है दो है ही नहीं ज्ञान को हम दो मानते ही नहीं दो हो तब ना इस ज्ञान को अज्ञान प्रकाशन करेगा एक ज्ञान को दूसरा ज्ञान प्रकाशन तब कर सके जब दो ज्ञान होंगे अब दो ज्ञान ही नहीं है फिर प्रकाश प्रकाश को ज्ञानों का परस्पर में हो ही नहीं सकता अरे एक कैसे सिद्ध कर दोगे सर्वदेश काल पुरुषाद्य अवस्थम एकमेव ज्ञानम नाम रूपादि अनेकोपाधि भेदा पवित्रादि जलादि प्रतिबिंबव अनेकदा भाषते इति इसलिए कहते हमारे ऊपर कोई दोष ना सो दोष इसलिए हमारे लिए कोई दोष नहीं बनता क्यों हम एक ज्ञान मानते हैं ज्ञान एक कैसा है क्योंकि सर्वदा सब देश में सब काल में सब पुरुषों के द्वारा आदि कार्य और भी जो जो निमित्त ढूंढ लो वेद का उन सारे भेदों के निमित्त से भी सकल अवस्थाओं में आप एक ही अनुभव करते हैं क्या है वो ज्ञान एकमेव ज्ञानम अरे ज्ञान में भेद कैसे आ गया घट गया पट गया अरे भाई ये तो उपाधियों का महिमा है नाम रूपात्मक नाम रूप आदि अनेक उपाधि भेदा नाम रूप और अनिष्ट धर्म आदि से लेना इन सब उपाधियों के भेद से ही दृष्टान सवित्रादिवत जलाधिवत सवितादि के समान सूर्य सूर्य का प्रतिबिंब कहीं छोटा है कहीं बड़ा है कहीं कैसा हो रहा है तो उपाधि में ऊपर निर्भर है और कहीं सूर्य का प्रति बिल्कुल साफ है और लहर के ऊपर जहाँ सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां कहा दिखेगा सूर्य ढंग से न वास्तव में सूर्य में लहर है न वास्तव में सूर्य प्लेन है है क्या बराबर है क्या है प्रकाश पुंज में सब व्यवहार नहीं हो सकता लेकिन प्रतिबिंब में सब दिखाई दे रहा है वो तो अपनी उपाधियों के कारण है उपाधि लहरायमान था तो सूर्य में लहर लहर जैसे दिखाई दिया उपाधि स्थिर था तो सूर्य में स्थिर जैसे अनुभव हो गया तो जलाधिवत कोई गंगा जल आपने नाम रख दिया है अरे जल तो जल है नहीं आपने उसके पीछे की बहुत लंबी चौड़ी कहानी बना दी और कह दिया गंगा जी है श्रेष्ठ है और वो यमुना जी है वो दो नंबर में है वो और कावेरी है वो तीसरे नंबर पे है, है कि नहीं सप्त नदियों को नाम भेद से तो किया नहीं तो सब क्या है जल ही है कहीं नाम कहीं रूप कहीं तत्स्थ धर्म आदि को लेकर के ही आप भेद कर रहे हैं प्रतिम के समान अनेक अफास है अनेक रूपेण एकमेव ज्ञान भाषित होता है इति नासो दोष तथा चाहिए उचित है इसलिए हमारे ऊपर न कोई अनवस्था है न कोई सर्वज्ञत्व हानि है कुछ उसी बात को ध्यान इन सारी शाखा जो किया गया विचार इसी विचार को ध्यान में रखते हुए श्रुति यह बात कही है तथा चा यह अस्मी श्रुत इदम उच्चत है यह बात कही गई है न श्रुति यही वह अंत शरीर है अब आता श्रुति के बात यही वह अंत शरीर क्यों बोला इस शरीर के भीतर है एकमेव अद्वितीय ज्ञान स्वरूप ब्रह्म शरीर के भीतर कैसे बड़ा पूर्व पक्ष विचार चलेगा यहाँ पर कारण का कारण का, कार्य के कार्य में भी कारण का कारण विद्यमान रहता है जैसे आम का पेड़ को देखो जिस गुटली से आम का पेड़ हुआ वह पेड़ से फिर फल लग गया उस फल के फिर वही गुटली आ गया हरी नहीं फिर गुटलियां वही तो हानि गुटलियां होकर फिर वापस फल में आ गए उसी तरह से मान लो ये आत्मा से संसार पैदा हो संसार में शरीर पैदा हो गया शरीर के अंदर फिर वो आत्मा आ गया मानेंगे ऐसे नहीं मान सकते फिर क्या व्यवस्था है अंतर तो शरीर कहने का तात्पर्य क्या है ये समझना पड़ेगा इसलिए इस पर विचार शास्त्र प्रारंभ करते हैं मन श्रुदय है यही वो अंत परिचिन्न कुंड भद्रवत पुरुष आप एक में ज्ञान कैसे कह रहे हो जैसे कुंड में बदर परिचिन है जैसे शरीर में आत्मा परिचिन्न है एक और उपाधि से भेद ये व्यवहार नहीं बन सकता है आत्मा अनेक अतएव ज्ञान भेद हो गया ज्ञान भेद से एक एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का विषय बन जाएगा दोस्त तो स्थायी बन गए वापस कहते अंत शरीर है इस श्रुति में यहाँ पर ऐसा कहा गया है यह ज्ञापन कर रहा है कि वह ज्ञान जो आत्मा है वो परिच्छिन्न है कुंडस्थ बदर के समान